और जिन लोगों ने कुफर की रविश अपना ली है उनके लिए दोजख की आग है ना तो उनका काम तमाम किया जाएगा कि वो मर ही जाएं और ना उनसे दोजख का अजाब हल्का किया जाएगा हर नाशुक्र काफिर को हम ऐसी ही सजा देते हैं